कृत है और अंत तो गत्वा ज्ञान से भिन्न नहीं है याद आ गई तो आपको जरा भेद शब्द का भी अर्थ बता देते हैं भेद को वेदांत में विशेष बोलते हैं भला भेद और विशेष ये दोनों शब्द वेदांत में पर्यायवाचक हैं जब ब्रह्म को निर्विशेष बोलते हैं तो उसका अर्थ निर्भेद ही होता है तो आप देखो भिन्न क्या है कि जैसे एक घड़े को हथौड़े से फोड़ा तो घड़ा भिन्न हो गया भिन्न हो गया मैंने फूट गया एक तलवार से लकड़ी को काट दिया तो लकड़ी छिन्न हो गई तलवार से काटने पर लकड़ी छिन्न हो गई और हथौड़े से फोड़ने पर घड़ा भिन्न हो गया भिन्न माने भेदन फोड़ना और छिन्न माने छेदन परंतु घड़ा फूटने पर माटी के सिवाय कुछ हो गया क्या घड़े के जितने टुकड़े हुए फूटने पर घड़े के सौ टुकड़े हो गए एक लंबा है एक छोटा है एक गोल है एक में गंदगी लगी है एक में नहीं लगी है तो भिन्न का अर्थ होता है वेदांत में विलक्षण अब देखो विलक्षण शब्द का अर्थ भी बताना पड़ेगा ये जल्दी ही लोगों की समझ में नहीं आता है तो वेदांत समझने में बहुत बहुत देर लगती है लक्षण की भिन्नता विलक्षण माने वस्तु एक होने पर भी लक्षण की विविधता इसको विलक्षण बोलते हैं आपको देखो उदाहरण देके समझाते हैं कंगन का लक्षण जुदा है उसके भीतर हाथ रहने भर का गोल छेद होता है कंगन का लक्षण ज्यादा है हस्ताभरण होना कंगन का लक्षण है और कर्णाभरण होना कुंडल का लक्षण है मत्स्यादि आकार विशिष्ट होकर के कर्णाभरण होना कुंडल का लक्षण है और हृदयाभरण होना हार का लक्षण है तो देखो हार का लक्षण जुदा कुंडल का लक्षण जुदा है कंगन का लक्षण जुदा लेकिन ये सब लक्षण जुदा होने पर कंगन गोल होने पर कुंडल मत्स्याकार होने पर है और हार जो है उसका आकार भी भिन्न होने पर क्या सोना में भेद हो गया स्वर्ण में भेद हो गया है ना तो एक ही सोने को लक्षण भेद से हार बोलते हैं लक्षण भेद से कंगन बोलते हैं लक्षण भेद से उसको कुंडल बोलते हैं परंतु है तो वो स्वर्ण ही ना एक फूल में चार पंखड़ी हैं एक दाहिने एक बाएं एक आगे एक पीछे चारों पंखड़ियां आपस में अलग अलग हैं लेकिन फूल की दृष्टि से क्या चारों पंखड़ी भिन्न है फूल ही है ना चारों के रूप में तो कुंडल हार और कंकन में लक्षणगत भेद होने में होने पर भी प्रयोजनगत भेद होने पर भी नामगत भेद होने पर भी रूपगत आकारगत भेद होने पर भी जैसे स्वर्णत्व में किसी प्रकार का भेद नहीं है इसी प्रकार स्त्री भेद पुरुष भेद पशु भेद पक्षी भेद जड़ भेद चर भेद अचर भेद ये सारे के सारे भेद जो प्रपंच में मालूम पड़ते हैं प्रपंच में ये सारे के सारे भेद जो मालूम पड़ते हैं ये विशेष हैं ये लक्षण भेद हैं हो लक्षण भेद लक्ष्य भेद नहीं है लक्ष्य भेद नहीं है जैसे हार कुंडल कटक का अर्थ वस्तुतः स्वर्ण ही है हाँ। इसी प्रकार स्त्री पुरुष पशु पक्षी चर अचर देवता दानव जितने भी परस्पर भिन्न विशेष दिखाई पड़ते हैं वो विशेष दिखाई पड़ने पर भी अंत तो गत्वा हाँ, तत्व दृष्टि से ब्रह्म ही हैं आत्म ही हैं तो हम प्रपंच से भिन्न हैं इसका अर्थ क्या होता है दृश्य से भिन्न है दृष्टा इसका अभिप्राय क्या होता है दृश्य का लक्षण है दृष्टा के सापेक्ष भाषणा और दृष्टा का लक्षण है दृश्य से निरपेक्ष भाषणा दृश्य और दृश्याभाव दोनों में भाषता है लेकिन ब्रह्म जो है दृष्टा भी ब्रह्म ही है दृश्य भी ब्रह्म ही है दृश्याभाव भी ब्रह्म ही है ब्रह्मातिरिक्त न दृष्टा है न दृश्य है न दृश्याभाव है तो इसी से वेदांत की बात जो पोथी में अपने आप पढ़ते हैं उनको समझने में बहुत देर लगती है क्योंकि पोथी में तो हम जितना समझते हैं ना उतना ही निकलेगा अंदाज यदि हम कह दें कि हमने परसों प्रेम कुटीर के सामने एक सिख सज्जन को देखा था उनके सिर पे साफा और मुंह पे दाढ़ी नारायण हाथ में कंगन मैंने देखा था यहाँ तो आप सब लोग याद करने लग जाएंगे और जिसने जब देखा होगा है ना उसके मन में सिख आ जाएगा सरदार जी उसके मन में जरूर आ जाएंगे लेकिन हमने जो देखा था सरदार जी को वही आवेंगे हाँ वही नहीं आवेंगे तो ये जो मालूम पड़ती है ना सृष्टि देखो मनुष्यत्व तो देखने से मालूम पड़ता है ब्राह्मणत्व तो देखने से नहीं मालूम पड़ता हाँ, नारायण और अच्छा सदाचारी है कि दुराचारी है ये भी देखने से नहीं मालूम पड़ता सदगुणी है कि दुर्गुणी है ये भी देखने से नहीं मालूम पड़ता है पंडित है कि मूर्ख है <laughs> ये भी देखने से नहीं मालूम पड़ता आपकी आंख क्या देखती है उसकी गति कहां तक है एक हमारे मित्र हैं वो 20 बरस से वेदांत पढ़ते थे मैंने ऐसी स्वाभाविक ही एक दिन पूछ दिया कि ये जो कटक कुंडलादि आता है वेदांत में इसमें कटक शब्द का क्या अर्थ है कटक हाँ तो उनको कटक शहर की तो याद आ गई कि अटक से कटक तक हिंदुस्तान है बोला लेकिन हाथ में जो कटक है कटक माने कड़ा है ना कड़े के लिए कटक शब्द है कंगन के लिए कटक शब्द है वो नहीं आया तो ये जिसको हम लोग भिन्न भिन्न भिन्न बोलते हैं ना भिन्न भिन्न पृथ्वी से जल भिन्न है लेकिन जल से पृथ्वी भिन्न नहीं है जल से अग्नि भिन्न है परंतु अग्नि से जल भिन्न नहीं है अग्नि से वायु भिन्न है लेकिन वायु से अग्नि भिन्न नहीं है और वायु से आकाश भिन्न है परंतु आकाश से वायु भिन्न नहीं है और मन से मन आकाश से मन भिन्न है लेकिन मन से आकाश भिन्न नहीं है मन से अहंकार भिन्न है परंतु अहंकार से भिन्न मन नहीं है अहंकार से महत भिन्न है परंतु महत से अहंकार भिन्न नहीं है और अव्याकृत आत्मा जात्मक भूत सूक्ष्म से महत तत्व पृथक है महत तत्व पृथक नहीं है महत तत्व से अव्याकृत बीजात्मा भूत सूक्ष्म पृथक है और आत्मदेव नारायण अव्याकृत आत्मा से आत्मदेव पृथक है परंतु आत्मदेव से अव्याकृत पृथक नहीं है ये लय की प्रक्रिया ये भी बच्चों के लिए है वेदांत में बोला मतलब। इसको इसको बड़े बूढ़ों के लिए नहीं मानते हैं बच्चों के लिए मानते हैं कासल असल में ये कार्य कारण भाव जो है ये बिल्कुल कल्पित है और परमात्मा में असली नहीं है तो भाई समझने के लिए आप देखते ही हो जस्तु सर्वाणी भूतानी आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम् ततो न बीजुगुप्सते क्या फल होगा इसका आत्मा में सब और सब में आत्मा पहले बीजुगुप्सा मिट जाएगी ततो न बिजुगुप्सते आप किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं रहेगा किसी के प्रति ग्लानी का भाव नहीं रहेगा किसी के प्रति रागद्वेश नहीं होगा सब अपना आत्मा इतना स्वातंत्र नारायण है इतना समत्व इतना स्वातंत्र इतना एकत्व इस आत्मदर्शन में है तो इसकी प्रशंसा आती है ना इसीलिए बोलते हैं कि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवंती जो धीर पुरुष हैं आप देख लो डर अं, अगर तैयारी न हो तो मत आना इस रास्ते पर ये वेदांत ज्ञान हो जाएगा तो अपना बेटा और दूसरे का बेटा बराबर हो जाएगा है? हाँ। अपनी संपत्ति और दूसरे की संपत्ति बराबर हो जाएगी बोला बुद्धि में जो राग द्वेष है वो मेट जाएगा अगर तुम्हें दोस्ती जोड़नी हो किसी से और किसी से दुश्मनी करनी हो तो मत आना ये भक्त लोग इस ढंग से बोलते हैं मायात पांथा पति भीम अरे ओ बटोहियो है ना भीमरथी नदी के तट पर फंस जाना क्यों वहां एक नंगा आ रहता है दिगंबर कोप तमाल नीला काला काला विन्यस्त हस्तोपिनितम्ब बिंबे धूत समाकर्षति चित्त वित्ताम हाँ, वो अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा रहता है किसी से छेड़छाड़ नहीं करता है लेकिन लोगों के चित्त की पूंजी चुरा लेता है तो ये वेदांत महाराज करे धरेगा कुछ नहीं आ, लेकिन न तो तुम्हारा दोस्त रहेगा न दुश्मन रहेगा दुश्मन तो मरेगा साथ साथ दोस्त भी नहीं रहेगा हाँ द्वेष जाएगा लेकिन राग भी चला जाएगा तो भूतेशु भूतेषु विचित्र धीरा सबके अंदर वही एक है प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती ये जो अज्ञानी जनों की दृष्टि है इस लोक से तुम ऊपर हो जाओगे ये लोक तुम्हारे लिए मर जाएगा इस लोक के लिए तुम मर जाओगे आ, हाँ, बेटा कहेगा कि बाप हमारा पक्ष नहीं करता है है ना बाप कहेगा कि बेटा हमारी सेवा नहीं करता है है ना और प्रांतवादी कहेंगे कि इनके अंदर तो प्रांतीयता है ही नहीं मार गई है ना हाँ, उनकी उनके गुट में तुम शामिल नहीं हो सकोगे हाँ, राष्ट्रवादी कहेंगे कि अरे ये तो ख्याली दुनिया में चला गया है ना मानवतावादी कहेंगे कि लो मानव को भी नहीं मानता है है ना हाँ, ब्रह्मांडवादी कहेंगे कि अरे इसकी दृष्टि में क्या ये व्यावहारिकता आ गई ये परमार्थ है हो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एकत्व आत्मा का दर्शन भूतेश अशरीरम शरीरेशु अनवस्थेष्वस्थिताम महांतम विभुमात्मान मत्वा धीरो न शोचते जैसे कठोपनिषद में कहते हैं शरीरेशु ये जो शरीर हैं उर्दू भाषा में शरीर का अर्थ होता है जो बहुत शरारत करे शरारत करने वाले को शरीर बोलते हैं ये बड़ा शरीर है गाली देते हैं बोला जैसे हमारे बोलते हैं बड़ा नंगा है बड़ा बंगा है, बोले अशरीरम शरीर इसके शरीर माने जमान हो शीर्जते जो सड़ जाता है जो गल जाता है जो टूट जाता है उसका नाम है शरीर शीर शीर्जते शरीराम ये श्री सम्मारे हाँ। मरे उसका नाम शरीर इस मरने वाले शरीर में जो अमर है अशरीर है अनवस्थित स्वस्थितम बदलती हुई जागृत स्वप्न सुषुप्ति कौमार चौवन वृद्ध आदि अवस्थाओं में जो अवस्था रहित है हाँ, जो अल्पों में महान है अलग अलग में एक विभु है वो कौन है आत्मा नाम वो अपना आत्मा है जहाँ इसका ज्ञान हुआ मत्वा धीरो न शोक धीर पुरुष इसका ज्ञान होने पर संपूर्ण शोक से पाप हो जाता है हाँ, ये धीर पुरुषों का मार्ग है धीरा मत्वा न सोचते मत्वा धीरो न सोचते जो धैर्यवान पुरुष है आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी चिल्ला सुना कि नहीं सुना सुना होगा परमहंस रामकृष्ण ने उनको कुछ चमत्कार दिखाया उनको ऐसा लगा कि मेरा मेरे चारों ओर ब्रह्मांड घूम रहे हैं ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड घूम रहे हैं बोले कि अरे महाशय अभी मैं अभी मैं मरना नहीं चाहता उन्हीं का नाम था अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं तो धीर पुरुष जीवन और मृत्यु दोनों एक हो जाए अरे माटी तो माटी है घड़ा फूटे की रहे है? आकाश तो आकाश ही है घड़ा फूटे की रहे देखो प्रगतिशील लोग क्या करते हैं कि आए हुए जो बुढ़े हैं ना पुराने उनको तो बचा के रखना चाहते हैं कि इनकी उम्र दो सौ सौ चार चार सौ बरस की हो जाए इसके लिए देखो वो खुद बिना चाहते लिए ऐसा करते हैं और आगे आने वाले जो महापुरुष हैं उनको गर्भ ही मार देते हैं और कहते हैं कि हम प्रगति पता नहीं जितनी बुद्धि तुमको है उससे ज्यादा बुद्धिमान जितना तुमको विज्ञान का पता है उससे ज्यादा विज्ञान का पता लेकर के कोई आ रहा हो क्यों रोकते हो हाँ असल में जो मरते हैं उनको मरते जाने देना चाहिए है ना उनकी उम्र बढ़ानी नहीं चाहिए <laughs> बुढ़े लोग जो चीरता शीर्णता की ओर जा रहे हैं सुनते हैं भारतवर्ष में ही जो अभी 25-30 वर्ष औसत आयु थी अब वो 40-50 हो गई है अब वो 40-50 हो गई है दूसरे देशों में तो 80 अस्सी सौ औसत आयु है हम्म। तो जिनको मरना चाहिए उनको तो रोक लेते हैं और जिन नई विभूतियों को आना चाहिए है ना उनको आने नहीं देते और अपने को बोलते हैं विचारशील प्रगतिशील है ना अरे वो नए विज्ञान के जन्मदाता होंगे आविष्कर्ता होंगे मत्वा धीरो न शोचती शोक मत करो जो वेद निहित गुहायाम परमे व्योमन सो स्नुते सर्वान कामान सा हम प्रशंसा है जिसमें ब्रह्म ज्ञान की महिमा का जिसमें श्रवण है ना वो श्रुति आपको बता रहे हैं जो वेद निहित अंगुहाया अपने को हीन नहीं समझना हो किसी तरह ऐसा कोई आदमी दुनिया में नहीं है जिसके बिना तुम रह न सको ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जिसके बिना तुम रह न सको क्योंकि जो सबसे बड़ी वस्तु है सृष्टि में वो तुम्हारे हृदय में रहती है तुम्हारे हृदय में हाँ। सबसे बड़ा जो महान है उसका निवास स्थान तुम्हारा हृदय है जो वेद निहितंग गुहाया गुहा में जो निहित है परमात्मा हाँ, उसको जो जानता है सोष्णुते सर्वान कामान सह वो एक साथ संपूर्ण भोगों को भोगता है एक साथ सोस्नुते सर्वान कामान सह आप देखो ये सामान्य जो वेदांत के जिज्ञासु समझते हैं उसमें और इस फलश्रुति में कितना अंतर है हाँ, लोग समझते हैं कि किसी को वेदांत का ज्ञान हो जाएगा तो उसको भोग नहीं रुचेगा उसको कर्म नहीं रुचेगा उसको संसार नहीं रुचेगा है ये तो बोलते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वो एक साथ संपूर्ण विश्व के भोगों को भोग सकेगा वो देवता भी वही होगा और अप्सरा भी वही होगा और ठीक उसी समय सुखदेव भी वही होगा और वामदेव भी हो, वही होगा और ठीक उसी समय ब्रह्मा होके सबका बाप वही होगा विष्णु होके लक्ष्मी से पांव दबाने वाला वही होगा दबवाने वाला वही होगा हैं और शिव होकर के विराट कैलाश में वही होगा नारद होके वही वीणा बजाता होगा ये देखो समुद्र होके वही लहरा रहा होगा पृथ्वी होके वही दृढ़ होगा वायु होकर के वही सबका प्राण होगा आकाश होकर के वही सबका धारण करेगा चंद्रमा सूर्य होकर वही सबको प्रकाश देगा वो एक साथ दिन और रात दोनों होगा वो एक साथ सृष्टि और प्रलय दोनों होगा तो सर्वान कामान सह सह माने एक साथ एक श्रुति आई है जक्षत क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्वा ज्ञानिर्वा वैश्यवा नोपजनम स्मरण निलम शरीरम तत्व ज्ञानी की महिमा बताए कि जक्षत भोग कर रखा रहा है क्रीडन खेल रहा है बच्चों की तरह जक्षत तो जक्षत की व्याख्या में विद्यारायण स्वामी अनुभूति प्रकाश में बोलते हैं इंद्र राजा दिदे नाना खाद्यानि भक्षयन वो इंद्र होकर इंद्र के रूप में स्वर्ग में वही अमृत पी रहा है और राजा के शरीर में होकर वही नाना पकवान खा रहा है क्योंकि एक शरीर का जो अहम था ना अभिमान था वो टूट गया ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है एक शरीर का तो नाना खाद्यानि भक्ष है जक्षर नारायण तो बच्चों की तरह खेल रहा है सनकादी बन के वही क्रीड क्रीड़ा कर रहा है है वो पहले से हाँ, जक्षा क्रीडन रममाणा हाँ, वो आनंद विहार कर रहा है कहा बोले स्त्री भीरबा ज्ञान इरबा वयस्य इरबा है ना स्त्रियां उसके साथ हैं विमान उसके साथ हैं हाँ, उसके साथ हैं और नोप जन्म स्मरण निदम शरीरम उसको ये कभी ख्याल ही नहीं आता कि मैं देह हूं है ना मैं एक देह वाला हूं ये कभी ख्याल ही नहीं आता ये ज्ञानी की महिमा स जो हई तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती जिसने परम ब्रह्म को जान लिया वो तो परम ब्रह्म ही हो गया परम ब्रह्म हो जाना असल में परम ब्रह्म पहले से था वेद में मंत्र शुक्ल यजुर्वेद संहिता में है तद पश्यत तद तद आसीत उसको देखा वही हो गया तद पश्यत तद उसको देखा और वही हो गया तद आसीत क्योंकि पहले से वही था पहले से वही था तो ये पर ब्रह्म सब आयेश एवं पश्यन एवं मनवान एवं बिजानन आत्मरति आत्मक्रीड मिथुन आत्मानंद सस्वराट छांदोग्योपनिषद हाँ, ब्रह्म ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए बोलती है सबा एश एवं पश्यन जो इस प्रकार जानता है अहमेव ब्रह्म मत तो किंचन नास्ते मैं ही ब्रह्म हूँ मेरे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है एवं मनमान एवं विजान एवं पक्ष ऐसे ही उसने मनन किया ऐसे ही ज्ञान प्राप्त किया ऐसे ही उसको अनुभव होता है तो क्या हुआ आत्मरति ही आत्मक्रीड आत्म मिथुन आत्मानंद सस्वराट भवती वो आत्मरति है रति स्त्री पुरुष की होती है परंतु वो आत्मरति है बिना स्त्री पुरुष के ही उसको वो आनंद प्राप्त है जो रति का आनंद आत्मरति आत्मक्रीडा बच्चे खेलते हैं का उनको खेलने से जो आनंद मिलता है वो उनको स्वयं प्राप्त है आत्म मिथुना साथी होने से आनंद आता है वो स्वयं अपना साथी है आत्मानंद उसको आनंद के लिए किसी वस्तु की किसी कर्म की किसी अवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है सत्वराट भवती वो स्वराट है हाँ, स्वराट माने स्वेन राजते उसकी जो शोभा है वो कपड़े की नहीं है है ना वो अंगराग की शोभा नहीं है चंदन माला फूल की शोभा नहीं है सिंहासन की शोभा नहीं है आभूषण की शोभा नहीं है सस्वराट भवती न स्वरूप नहीं स्वरूप से ही उसकी शोभा है जो एवं वेद हम ब्रह्मास्मी स इदम सर्वम भवती बृहदारण्य उपनिषद का कहना है कि जो ऐसा जान लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं बृहत्वा काल से लंबी जिसकी आयु है माने जिसकी ये जिस जिस जीवन में काल की दाल नहीं गलती मैं हमारा हूं है ना और देश से भी ज्यादा जो लंबा चौड़ा है है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिसमें कल्पित है है ना और वस्तुओं का भेद होने पर भी बीज रहित तो उपादान सबका वही है उपादानता जिसमें कल्पित है पूर्व पश्चिम उत्तर का भेद जिसमें कल्पित है भूत भविष्य वर्तमान काल जिसमें कल्पित है कैसा होता है एकदम सर्वम भवते सब देश वही है सब काल वही है सब वस्तु वही है देखो कहीं राग द्वेष की कहीं गंध मालूम पड़ती है ना ये तत्व ज्ञान की महिमा है है ना एक को अनेक के रूप में जानना ये राग द्वेष का कारण है और अनेक में एक को जानना राग द्वेष को मिटाना है राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति भेदभाव की आत्यंतिक निवृत्ति इस ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती इदम सर्वम जदयम आत्मा वृंदारण्य का श्रुति कहती है ये सब जो कुछ है सो आत्मा ही है न तो तद्वितीयमस्ती तथो न्याद विभक्ताम दूसरी कोई वस्तु नहीं है जो उससे अलग हो करके रहे दूसरी होवे तो अभेद की तो महिमा आती है उपनिषदों में यही आपको सुना रहा एकत्व ज्ञान की अभेद की महिमा आती है श्रुतियों में और नानात्व दर्शन की निंदा आती है मृत्यो समृत्युमापनोति यह नाना इव पश्यती इदम सर्वम वस्तु तो नाना न भवती नाना युव भवते है ना ये वस्तुतः सब अनेक नहीं है नाना नहीं है बिल्कुल एक है नाना सरीखा मालूम पड़ता है लेकिन जिसकी नजर इस नानात्व में फंस जाती है उसको क्या होता है कि मृत्यु सौ मृत्यु गच्छति उसको एक छोड़ के दूसरे में जाना पड़ेगा दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाना पड़ेगा जैसे देखो कोई धर्म समझ के ब्याह करे और पति नपुंसक निकल जाए नारायण तो क्या करेगा वो तो नहीं छोड़ेगा यद्यपि धर्म की दृष्टि से छोड़ने में कोई बाधा नहीं है तो लेकिन जो भोग की दृष्टि से करेगा सो वो तो तत्काल छोड़ देगा धनी समझ के दोस्ती जोड़े और बाद में वो आदमी गरीब निकले तो क्या करेगा वो आदमी लोभी आदमी किसी से दोस्ती जोड़ता है धनी समझ के तो जहां स्वार्थ होता है ना वहां टिकाऊपना नहीं होता है वहां निष्ठा नहीं होती है तो मृत्यु समृत्यु माफ होती है हम भोग चाहते हैं बहुत और शरीर में शक्ति होती है कम तो एक शरीर से जब पूरे भोग नहीं मिलते हैं तो एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में एक को छोड़ के दूसरे में एक दूसरे को छोड़ के तीसरे में ये तो होटल तरीका है शरीर जो चीज हम पसंद करते हैं वो जब तक इसमें मिलती है रहते हैं और नहीं मिलती है तो इसको छोड़ के दूसरे में चले जाओ तो मृत्यु के बाद मृत्यु क्यों मिलती है जिस जो नानात्वदर्शी है द्वितीय द्वय भयम भवती दूसरे से भय होता है अथ जोन्याम देवताम उपासते अन्यो सावन्यो हम अस्मीति हाँ, किसी दूसरे की उपासना कर रहे हैं ये दूसरा है मैं दूसरा हूं स्वयं भेद बना रहे हैं हाँ, पशु रेव सदेवा नाम उस पर तो देवता सवारी गांठेगा हो है ना न सवेद उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है आपने देखा होगा देवताओं के वाहन कौन होते हैं है? किसी का वाहन पशु और किसी का वाहन पक्षी तो जब तुम देवता को अन्य मान करके उसकी उपासना करने गए तो उसके वाहनत्व की प्राप्ति तो होगी ही होगी पशु रेव सदेवा नाम चाहे गरुड़ बनो चाहे बैल बनो और कहो कि वाह वाह वाह हमारा कल्याण हो गया वो बात दूसरी है हंस बनो और कहीं शीतला देवी से प्रेम हो गया तब क्या होगा हे भगवान शीतला देवी का तो बड़ा विलक्षण है, है? एक आदमी ने शीतला देवी की आराधना की हो तो शीतला प्रकट हुई दर्शन दिया तो उसने कहा शीतला ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए सो बर मांगो तो उसने कहा देवी हमको एक घोड़ा चाहिए शीतला ने कहा कि बेवकूफ है अगर घोड़ा होता मेरे पास तो मैं घोड़े पर चढ़ती गधे पर क्यों चढ़ती अपना वाहन मैंने गधा इसलिए बनाया कि मेरे पास घोड़ा नहीं है, है? हमारे वाहन तो गधे हुआ करते हैं द्वितीय अद्वै भवम भयम भवते ब्रह्म तम जो जो आत्मनो ब्रह्म वेद ब्रह्म उससे दूर हो जाता है जो अपने आत्मा से जुदा ब्रह्म को जानता है क्यों दूर हो जाता है ब्रह्म के बारे में तुम्हारा आकलन गलत है जिससे कोई भिन्न होगा और जो किसी से भिन्न होगा वो ब्रह्म कैसे जो किसी के द्वारा छिन्न भिन्न किया जाएगा और ब्रह्म जिसको छिन्न भिन्न करेगा तो ब्रह्म ब्रह्म कैसे उसका तो दुश्मन है ब्रह्म वो होता है जिसके माँ बाप नहीं जिसके पति पत्नी नहीं जिसके बेटा बेटी नहीं जिसके स्वामी सेवक नहीं है ना जिसके दुश्मन दोस्त नहीं उसका नाम ब्रह्म है तो ब्रह्म तो बड़ा विलक्षण है तो ठीक इसी से आया शास्त्र में छांदों की श्रुति ने कहा कि अथ जे अन्यथा तो विदुहु अन्य राजा ते छज्ज लोका भवनते जो इस बात के सिवाय जानते हैं आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी चीज है तो आत्मा तो ब्रह्म है और जो ये समझते हैं कि आत्मा ब्रह्म नहीं है है और ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी चीज सच्ची है तो उनको विनाश की प्राप्ति होगी हाँ, यहां से वहां जाओ भटको देश में भटको काल में मरो रूप से रूपांतर को प्राप्त हो ये ब्रह्म के अज्ञान का नतीजा है इसी से देखो गीता में भी कहते हैं बहु नाम जन्म अंत ज्ञानवान माम प्रपत्ति है क्षेत्र विद्धि वेदा विनाशिनम नित्यम जैन मजमव्ययम सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि महाभारत में आया ममांतरात्मा तवचो ये चान्ये देह संस्थिता सर्वेशा साक्षी न ग्राह्य के नचित क्वचित इस शरीर में इस शरीर में इस शरीर में सबके शरीर में एक साक्षी है एक आत्मा है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा जो परमात्मा को जानता है वो परमात्मा से अभिन्न हो जाता है विष्णु पुराण में आया यदा समस्त देहेशु पुमानेको व्यवस्थित तदा ही को भवान सोहम तद विफलम बचा और जब एक ही आत्मा सबके शरीर में परिपूर्ण है और शरीर झूठा आत्मा सच तब ये पूछना कि तुम कौन हो और मैं वो हूं कि ये सब व्यर्थ की बात है एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं श्रीमद् भागवत में एक बहुत विलक्षण प्रसंग आया है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ये प्रश्न किया कि हमारा मन विषयों का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया और विषयों का संस्कार हमारे मन में घुस गया अब जब हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे मन में विषय का चिंतन न हो तो नींद आ जाए वो बात दूसरी है बोला हम ये ध्यान समाधि की सब बात जानते हैं बोला हमने ध्यान देखे हैं हमने समाधि देखी है और ये तो आपको मालूम ही है कि ध्यान समाधि दूसरे की नहीं देखी जाती अपनी देखी जाती है ये लोग तीन घंटे अकेले में बैठते हैं ना और ध्यान करके उठते हैं कहते आ तीन घंटे तक चित्त निर्विषय रहा तीन घंटे तक भगवान का ध्यान होता रहा आहा, माला फेरते रहे और नाम लेते रहे और भगवान का स्मरण होता रहा इसका रहस्य आपको बताता पोल बताता हूं पोल अगर 12 मिनट से ज्यादा मन एक वस्तु में रहे लगातार तो वो समाधि लग जाती है जो टूटती नहीं ये तो जागता है सोता है लोग राम राम राम राम राम राम करते करते बैठते हैं नींद आ जाती है सो जाते हैं फिर ज्यो जगते हैं क्यों राम राम राम राम होने लगता है तो घड़ी देखते हैं बोले घंटे भर हो गया हम राम राम कर रहे हैं है ना राम राम राम राम करते करते करते आंख बंद हुई अच्छा पहले मन में पहले सपना आता है हाँ। माला चलना फिरना बंद हो जाता है मुंह से बोलना बंद हो जाता है हाँ, नींद आ जाती है और तो कहते हैं उठते हैं उठते हैं तब जीप चलती रहती है और माला फिरती रहती है क्योंकि धीरे से जगते हैं धीरे धीरे जगते हैं अच्छा तो बोले कितनी देर भजन किया तो घड़ी बताती है कि घंटे भर घड़ी बताती है घंटे भर ये बहुत विचित्र है हमको ध्यान हमको समाधि का पता है बोला हाँ। तीन घंटे अगर शरीर बिना हिले रह जाए बिना हिले तो समाधि लग जाएगी तो ये जो है प्रश्न ये हुआ कि मन तो विषय के संस्कार से ग्रस्त है और मन को जब देखो जब विषयों का ही चिंतन करता है तो हम ये चाहते हैं कि मन और विषय दोनों अलग अलग हो जाए तो प्रश्न तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसका उत्तर जो वहां है वो अद्भुत है वो आप जाके किसी के चेले बनोगे तो नहीं बतावेगा जल्दी नहीं बता सकता ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ है ना कि हमारे कोई चीला गुरु का अभिनिवेश नहीं है बोला विचित्र माया है असल में मन जो है उसके दो हिस्से हैं एक विषय का संस्कार और वासना और एक चैतन्य तो जो चैतन्य है वो तो स्वयं आत्मा है ब्रह्म है और जो वासना है और संस्कार है है ना वो तो जड़ है तो ये चैतन्य और जड़ को एक करके हम ऐसा कहते हैं कि हम अपने मन को विषय से हटावेंगे असल में विषय से हटाने पर तो मन नहीं रहेगा चैतन्य रहेगा तो कहने का अब तो चैतन्य तो विषय से हमेशा अलग है ही है तो अलग करते क्या हो तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने बताया ठीक है भाई विषयों का चिंतन करते करते मन विषय हो गया और विषयों के संस्कार मन में घुस गए ये ब्रह्मा जी को नहीं आया ये उत्तर हो अब वहां प्रसंग है ये सनकादि को ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके क्योंकि दी उनके मन में उनके मन में कर्म का संस्कार भरा हुआ था बोले भाई सनत कुमार से कुछ काम लें कुछ काम लें कुछ काम लें जीवों का कर्म देखना और उनको शरीर देना लगा हुआ था तब हंस भगवान आए हंस भगवान आए तब पूछा ब्रह्मा ने तुम कौन हो तो हंस बोले कि जो तुम हो सोई मैं हूं कौन हो पूछना गलत है है ना पंचभूत सबके शरीर में मेरे अब मेरा तेरा शरीर अगर पंचभूत का हो तो पंचभूत भी सब में एक और मेरा तेरा दोनों का आत्मा एक हो तो भी मैं और तू एक तू कौन है ये क्यों पूछता है और उत्तर क्या दिया बोले कि मन को विषय से अलग मत करो अब देखो ये ये जाके अभी पूछ आओ है ना है ना मार्क्सवादियों से बोला और विज्ञानवादियों से है ना नारायण इतना प्रगतिशील विचार उनको भी प्राप्त नहीं है है ना वो डरेंगे वो वे भी डरेंगे ऐसा बोलने में जीवस्य देह उभयम मदरूप उभयम त्यजेत बोले कि अरे तुम मन और विषय को अलग करना चाहते हो पानी और तरंग को अलग अलग करना चाहते हो ये मतलब हुआ है ना मिट्टी और घड़े को अलग अलग करना चाहते हो मिट्टी और घड़ा अलग अलग नहीं होता पानी और तरंग अलग अलग नहीं होते आग और चिंगारी अलग अलग नहीं होती बोला वायु और प्राण अलग अलग नहीं होते महाकाश और घटाकाश अलग अलग नहीं होते है ना ये मन और विषय का तब क्या चाहते हो तो क्या करें क्या करे तुम एक असंभव कार्य कर रहे हो लो हम मार दिया ना बम गोला संपूर्ण संपूर्ण योग राधांत पर है ना वो गोला मारा बोले से देह उभयाम असल में ये कर्म और कर्म विषय और विषय संस्कार और जिसमें ये विषय संस्कार पढ़ते हैं वो मनोवृत्ति ये दोनों आत्मा के स्वरूप नहीं है आत्मा के देह हैं और आत्मा ये तो मैं हूं आत्मा और परमात्मा एक है इसलिए विषय विषय का संस्कार और मन मन को मारो गोली मदरूप उभयम तेजे है ना इस गुंडे को निकाल दो घर से जाओ तुम रहो जहां तुम्हें पसंद है वहां रहो मेरा मन मेरा मन मेरा मन ना रहो है ना अपने बच्चे को समय एक है ना हमने देखा और ऋषिकेश में एक ब्राह्मण थे पुरोहित थे वहां के बड़े बड़े सेठ लोग उनके घर पे जाते थे ऋषिकेश में एक पुरोहित उनका लड़का गुंडा हो गया माने नहीं माने नहीं है ना तो उन्होंने अखबार में पहले छपवा दिया कि अब इस लड़के के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है पहले छपवा दिया हो है ना ये लड़का गुंडा हो गया है ना और ये हमारे नाम पर कलंक लगाने वाला अब इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं और उसके बाद पुलिस में शिकायत करके पकड़वा दिया सीताराम तो ये मनीराम जो हैं है ना हाँ। ये अपने साथ जोड़ने लायक नहीं है अरे जा और जहां जा कहा निकाला घर से